और जब उनसे कहा जाता है कि आओ इस कुरान की तरफ जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया है और रसूल सल्लल्लाहु वसल्लम की तरफ तो वो कहते हैं हमारे लिए वही काफ़ी है जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया भला अगरचे उनके बाप दादा ना कुछ जानते हों और ना हिदायत याफ्ता हों क्या फिर भी उनकी पैरवी करेंगे